परम पिता परमात्मा का स्मरण अहिंसक वैर रहित परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ सज्जनों आर्य विनय के प्रथम प्रकाश में महर्षि दयानंद ने प्रथम मंत्र के व्याख्यान में परमात्मा को बहुत सारे संबोधनों से संबोधित किया है संबोधनों को बोलते हुए बहुत सारी स्तुति और प्रार्थना की है उन संबोधनों में कल एक संबोधन हमने देखा था हे दारिद्र्य विनाशक इससे संबंधित अगला संबोधन है हे निर्वैर विधायक वैर का मतलब है विरोध हिंदी में बैर बोलते हैं किसी से हमें दुश्मनी हो जाती है विरोध होता है पेश होता है तो आपस का ये विरोध भाव वैर कहलाता है और निर्वैर का मतलब है वैर का न होना परमात्मा निर्वैर का विधायक है विधान करने वाला है जो विधि को लागू करता है कुछ नियम बनाता है वो विधायक कहलाता है तो परमात्मा ने जो विधान किया है वो निर्वैर का है वैसे संसार में हमें बहुत वैर दिखाई देता है एक परिवार में रहने वाले व्यक्तियों में भी वैर का भाव आ जाता है पास पास रहने वालों में भी वैर का भाव देखा जाता है गांव गांव में राज्य राज्य में और विभिन्न देशों में भी परस्पर वैर का भाव देखा जाता है और वो थोड़ा थोड़ा मिला के भी इतना अधिक होता है कि उसके कारण संसार में बहुत हानि हमें दिखाई देती है संसार में बहुत हानि होती है लेकिन परमात्मा के लिए कहा गया परमात्मा निर्वैर का विधायक है निर्वैर की स्थिति बने ऐसी विधि करने वाला है परस्पर वैर का मुख्य कारण मूलभूत स्वाभाविक कारण एक दूसरे के स्वार्थ का टकराना होता है हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है जीने के लिए उसको कुछ आवश्यकताएं होती हैं व्यवस्थाएं होती हैं जब वो किसी दूसरे व्यक्ति से दूसरे समाज से दूसरे देश से विपरीत पड़ती हैं दूसरों के द्वारा उसमें बाधा पहुंचाई जाती है अथवा ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ प्राप्त करना चाहता है और दूसरे उसे होने नहीं देते तो परस्पर वैर का भाव प्रारंभ हो जाए एक व्यक्ति एक समाज राष्ट्र दूसरे की संपत्ति धन को जब लेना चाहता है अपने हित के लिए तो वैर प्रारंभ होता है तो वैर का प्रारंभ जो स्वाभाविक सामान्यतः होता है वो स्वार्थ के टकराने से होता है और इसमें भी स्वार्थ मुख्य रूप से भौतिक वस्तुओं का साधनों का सुविधाओं का होता है परमात्मा ने दरिद्रता को समाप्त करके दिया है साधन इतने दिए हैं कि हमारे में दरिद्रता नहीं होती जो पिछला संबोधन था हे दारिद्र्य विनाशक तो परमात्मा ने इतने साधन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में दिए हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक तरह कर सकता है जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं उसे उपलब्ध करा दी गई हैं जहां समाज में अभाव देखा जाता है उपलब्धता कम होती है तो झगड़ा होता है और कुछ नहीं तो एक सामान्य से जल के ऊपर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी गांव में किसी मोहल्ले में पानी की कमी हो और कुआ हैंडपंप या टैंकर से पानी आता है और वो बहुत कम हो उनमें आपस में बहुत संघर्ष हो जाता है सबको चाहिए पानी तो वस्तुओं के अभाव में वैर की उत्पत्ति बहुत सहजता से हो जाती है लेकिन परमात्मा दारिद्र्य का विनाशक है उसने व्यवस्थाएं ऐसी की हैं कि दरिद्रता न रहे सब चीजें पर्याप्त मात्रा में दी हैं इस दृष्टि से परमात्मा ने निर्वैरता का विधान किया है वैर का मूल कारण न रहे ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने की है लेकिन फिर भी जो वैर पैदा होता है वस्तुओं को लेकर के या विचारों को लेकर के ये मनुष्यों का अपना विकसित किया गया है गलत स्थिति बनाई गई है यदि हम वेद के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहें तो ये पृथ्वी और प्रकृति हमारी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ है लेकिन जब मनुष्य लोभवश अपनी आवश्यकताओं से अधिक अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगता है लोकेशना आदि के कारण से प्रतिस्पर्धा के कारण से अन्यों से आगे बढ़ने के कारण से तो उसे जिन वस्तुओं की जितनी आवश्यकता प्रतीत होती है वो दूसरे को बाधित करती है बहुत अधिक साधन चाहिए ये वैर का कारण प्रारंभ हो जाता है वैचारिक विरोध सैद्धांतिक विरोध तो बहुत आगे की बात है जीवन के स्तर पर प्रत्यक्ष में विरोध प्रारंभ होता है वो वस्तुओं के लिए होता है साधनों के लिए होता है क्योंकि हर मनुष्य अपने जीवन को चलाना चाहता है सुविधा पूर्वक चलाना चाहता है तो जहां भी कुछ विरोध होगा तो वैर का भाव पैदा होने लग जाएगा तो परमात्मा चूंकि दारिद्र्य का विनाशक है इसलिए निर्वैर का विधायक है आधारभूत उसने निर्वैरता स्थापित की है दूसरा परमात्मा का विधान वेद है वेद में परमात्मा ने परस्पर प्रीति का मिलजुल कर चलने का मानसिक समानता होना सामंजस्य होना प्रीति होना द्वेश रहित होना इत्यादि का विधान किया है हम आपस में द्वेष करें झगड़ें दुखी हों इसका कोई विधान वेद में नहीं है निर्वैरता का ही उपदेश विधान संविधान के रूप में परमात्मा ने किया है इसलिए भी परमात्मा निर्वैर विधायक है और इसको दूसरे ढंग से देखें परमात्मा न्यायकारी है और उसकी न्याय व्यवस्था दो भागों में बटी है धर्म अधर्म पाप पुण्य उन्नति के अवसर सुविधाएं पुरस्कार और दंड उन्नति का अवसर न देना साधनों को न्यून मात्रा में देना न देना ये दो भागों में बटा हुआ है ईश्वर की न्याय व्यवस्था का आधार क्या है जो दंड व्यवस्था है आधा भाग वो तब प्रारंभ होता है जब हम दूसरे से वैर करते हैं वैर करते हुए जब हम दूसरे की हानि करते हैं हिंसा करते हैं तो दंड की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है यदि दूसरे से हमें वैर नहीं है निर्वैरता है यानी प्रीति है तो हम दूसरे की हानि कभी नहीं करेंगे लेकिन जब हम अपने स्वार्थ पर केंद्रित होते हैं तो दूसरे की हानि हमें हानि दिखाई नहीं देती और हम बड़ी सहजता से लोभवशात उसकी हानि कर देते हैं वैर का मतलब हिंसा कोई वैर करता है यानी हिंसा कर रहा है और कर्मफल व्यवस्था में परमात्मा की न्याय व्यवस्था में दंड का विधान वहां प्रारंभ होता है जब हम दूसरे का अहित करते हैं दूसरे की हिंसा करते हैं दूसरे के साथ यही वैर करना है हिंसा की दूसरे की हानि की ये दूसरे के प्रति वैर का भाव हो गया वैर हमने कर दिया परापघात दूसरे की हानि करना धन की जीवन की वस्तुओं की अवसर की मानसिक आघात पहुंचाना बोल करके तो जब भी हम परापघात करते हैं तो हिंसा होती है और ये वैर में आएगा तो परमात्मा ने वैरियों के लिए दंड व्यवस्था करके हिंसकों के लिए दंड व्यवस्था करके दूसरों की हानि करने वालों के लिए दंड व्यवस्था करके निर्वैरता का विधान किया है हम निर्वैरता की स्थिति में रहें उसके लिए आवश्यक है कि हम वैर को रोकें ऐसी व्यवस्था हो कि हमारा वैर रुके तो परमात्मा की इतनी बड़ी कर्मफल व्यवस्था न्याय व्यवस्था इस बात के लिए कि हम निर्वैर बने वैर करते ही दंड हमारे साथ में जुड़ जाएगा तो ये तो एक पक्ष हुआ न्याय व्यवस्था का और दूसरा पक्ष जिसमें हमें पुरस्कार अच्छा फल अच्छे अवसर मिलते हैं सुख मिलता है सुख साधन मिलते हैं वो भी परोक्ष रूप से निर्वैरता को बढ़ाने वाला है निर्वैरता का विधान करता है क्योंकि जब हम दूसरे का हित करेंगे परोपकार करेंगे तो हमारा पुण्य होगा पुण्य इसी बात पर आधारित है कि हमने किसका कितना हित किया है और जब हम दूसरे का हित करने में लगते हैं तो वैर कहां रह सकता है ये दोनों परस्पर विपरीत बातें हैं तो पुण्य का फल देते हुए पुण्य की व्यवस्था करते हुए भी परमात्मा निर्वैरता का ही विधान कर रहा है तो एक दृष्टि से परमात्मा के सारे विधान पाप और पुण्य को बताने वाले हैं धर्म और अधर्म को बताने वाले हैं विधि और निषेध को बताने वाले हैं उचित अनुचित को बताने वाले हैं अगर कोई व्यक्ति अकेला जीवन जी रहा हो बिल्कुल अकेला हो तो उसके लिए विशेष विधि विधानों की आवश्यकता नहीं होती है और उसके व्यवहारों में पाप और पुण्य जैसी चीजें नहीं रहती हैं पाप और पुण्य का प्रारंभ वहां होता है जब हम दूसरे से जुड़ते हैं दूसरे से सहयोग लेते हैं दूसरे को सहयोग देते हैं एक दूसरे के साथ व्यवहार में संतुलन रहे दूसरे को बाधा हानि न हो इसी के लिए तो ये सारे विधान हैं अकेले हम वास्तव में रह नहीं सकते समूह में हम रहते ही हैं और समूह में रहेंगे तो एक का स्वार्थ दूसरे से टकरा सकता है विरोध प्रतीत हो सकता है तो उन स्थितियों में कैसे निर्वैरता रहे हम सब अपने स्वार्थ को पूरा करते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए दूसरे को हानि पहुंचाए बिना या न्यूनतम बाधा किए हम आगे बढ़ते रहें दूसरे के द्वारा न्यूनतम बाधा हो उसे हम सहन करते हुए चले यही तो सारा विधान है वेद का सभी को अपना स्वार्थ पूरा करना है सभी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है सभी को परमात्मा की प्राप्ति करनी है मुक्ति की प्राप्ति करनी है सभी सुख चाहते हैं सभी आनंद चाहते हैं तो सबकी इच्छा कैसे पूर्ण हो उसके लिए परमात्मा ने जो विधान किया है वो निर्वैरता का विधान है आपस में निर्वैर रहते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं हम अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं सुखी रह सकते हैं और यदि हमारा आपस में टकराव प्रारंभ होता है अपनी आवश्यकताओं से अधिक कामनाओं की पूर्ति के कारण से लोकेशना आदि के कारण से तो वो टकराव हमारी उन्नति में बाधक अवश्य ही बनता है हमारी शक्ति सामर्थ्य उस ओर लगती ही है जो शक्ति सामर्थ्य आगे बढ़ने में लगनी चाहिए थी वो शक्ति सामर्थ्य एक दूसरे को हानि पहुंचाने में लगती है अथवा एक दूसरे के द्वारा की जा रही हानि को बचाने में लग जाती है और इस प्रकार से दोनों का ही समय व्यर्थ जाता है अपनी उन्नति को अपनी निरपेक्ष उन्नति को छोड़ करके जब दूसरे की हानि करने लगता है व्यक्ति तो समय शक्ति धन साधनों का अपव्यय होता ही है उसका अपना भी और दूसरा व्यक्ति भी जब उससे रक्षा करता है बचना चाहता है तो उसे भी धन शक्ति आदि लगाने ही होते हैं और इस प्रकार दोनों एक दूसरे की हानि करते हैं ये अलग बात है कि न्याय व्यवस्था के अनुसार उनको उचित क्षतिपूर्ति आदि होगी यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है लेकिन वैर की स्थिति में बाधा तो दोनों को होती है तो दोनों व्यक्ति बिना बाधा के आगे बढ़े हर व्यक्ति बिना बाधा के आगे बढ़ सके परमात्मा की व्यवस्था तो ऐसी है हमारी शक्तियां एक दूसरे को बाधित करने में ना लगे और चूंकि परमात्मा ने दरिद्रता का विनाश कर रखा है इतने अवसर दे रखे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अवसर हैं यदि कहीं कुछ व्यक्तियों में परस्पर टकराव हो रहा है क्योंकि उसी एक ही जगह से पानी भर रहे हैं एक ही जगह से उनके अपने साधन मिल रहे हैं तो कुछ टकराव हो सकता है तो भी विकल्प है इतने विकल्प हैं उसकी जगह हम कुछ और कर सकते हैं हमारा कार्य क्षेत्र एक दूसरे का कार्य क्षेत्र भी वही और उसमें यदि हमें एक दूसरे से कुछ बाधा प्रतीत होती है कि ये बढ़ गया तो मेरी हानि हो गई तो वहां भी हमें अवसर है अपनी क्षमताएं बढ़ाने का आगे बढ़ने का वो परमात्मा ने दे रखा है और यदि हम वहां नहीं कर पाते हैं तो भिन्न स्थल बहुत हैं हमारे पास में भिन्न क्षेत्र हैं भिन्न विषय हैं जहां हम प्रगति कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं ये आवश्यक नहीं कि एक जगह जहां कोई दुकान खुली है हम भी वहीं पर ही खोलें और फिर आपस में लड़ते रहें ठीक है यहां दूसरा बैठा है मैं दूसरी जगह बैठ सकता हूं यहां सेवा कार्य ये कर रहा है मैं वही सेवा कार्य करूं आवश्यक नहीं है मैं दूसरी जगह सेवा कार्य कर सकता हूं बहुत क्षेत्र है सब जगह सेवा की आवश्यकता है सब जगह पुरुषार्थ की आवश्यकता है सब जगह प्रचार की आवश्यकता है सब जगह धन प्राप्ति के अवसर हैं बिखरे पड़े हैं बहुत ज्यादा तो परमात्मा के द्वारा जो दारिद्र्य विनाशक स्थिति पैदा की गई है इतने अवसर दिए गए हैं वो ऐसे हैं कि हमारे अंदर वैर न उपजे एक स्थान पर रहते हुए भी हम भिन्न भिन्न कार्य करते हुए निर्वैरता की स्थिति को बनाए रख सकते हैं और चूंकि हर व्यक्ति अपनी पूरी उन्नति कर सकता है विशेष रूप से आंतरिक प्रगति हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र रूप से उन्नति कर सकता है वहां तो एक दूसरे से कोई टकराव है ही नहीं भौतिक साधनों में हम कहीं टकराव समझ सकते हैं लेकिन मुख्य लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति की दृष्टि से आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से आंतरिक उन्नति की दृष्टि से तो एक दूसरे से कोई टकराव है ही नहीं दूसरे की प्रगति मेरी प्रगति में बाधक कभी नहीं बनेगी साधक ही बनती है ये अलग बात है कि हम उसको बाधक समझने लगते हैं दूसरे की उन्नति में अपनी बाधा समझने लगते हैं ये हमारा अज्ञान है मानसिक स्तर पर बौद्धिक स्तर पर हम कितनी पवित्रता का संपादन करते हैं उससे दूसरे की पवित्रता हमारे में बाधा नहीं डालती है और दूसरे की मलिनता भी हमारे हमारी पवित्रता में बाधा नहीं डालती है तो आंतरिक स्वार्थ में तो कहीं कोई टकराव है ही नहीं आध्यात्मिक प्रगति जो कि वास्तविक प्रगति है उसमें तो कोई स्वार्थ का टकराव आ ही नहीं सकता आना ही नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम वहां टकराव पैदा कर लेते हैं मान सम्मान के कारण मैं दूसरे से बड़ा दिखूं छोटा ना हूं इत्यादि जो कृत्रिम बाधाएं पैदा कर लेते हैं तो वैर पैदा हो जाता है लेकिन परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है सांसारिक विषयों में प्रगति के लिए <clears throat> कुछ प्रगतियां कुछ उन्नतियां ऐसी हैं कि वहां सब व्यक्ति नहीं पहुंच सकते योग्य होते हुए भी संभव नहीं है सबका वहां पहुंचना चक्रवर्ती सम्राट बनना सबके लिए संभव नहीं है एक ही बनेगा देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक ही बनेगा सब नहीं बन सकते इसी तरह से अपार धन संपत्ति की कामना कोई रखे तो सबके पास वो नहीं हो सकती इतने साधन नहीं है कि सब उतने संपन्न बन जाएं। विश्व का जो सबसे धनी व्यक्ति है उतना धन संपत्ति सब व्यक्तियों के पास हो ऐसा संभव नहीं है उतने बड़े मकान उतने बड़े खेत हर व्यक्ति के पास हो ये संभव नहीं है वहां तो आवश्यकता के अनुसार चला जा सकता है वो भी इतने पर्याप्त हैं लेकिन आंतरिक उन्नति में तो कोई बाधा है ही नहीं पर्वत के शिखर पर सब व्यक्ति नहीं ठहर सकते क्योंकि वो स्थान छोटा होता है नीचे सब रह सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक प्रगति का जो चरम है उत्कर्ष है शीर्ष है वो सबका अपना अलग अलग है वहां कोई बाधा नहीं है कि सब व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर लें ईश्वर साक्षात्कार कर लें कर सकते हैं एक दूसरे को कोई बाधा नहीं है तो परमात्मा ने साधनों की दृष्टि से निर्वैरता की स्थिति बनाई है उपदेश ऐसा दिया है निर्वैरता की स्थिति में ही हम अधिक प्रगति कर सकते हैं अपने साधनों का पूरा उपयोग केवल प्रगति के लिए कर सकते हैं व्यर्थ होने से बचा सकते हैं और हर व्यक्ति उस ऊंची स्थिति में पहुंच सकता है परमात्मा की न्याय व्यवस्था परमात्मा के समस्त विधान निर्वैरता के लिए है यमों में भी जो अहिंसा को सबसे मुख्य स्थान दिया जाता है बाकी सब चीजें अहिंसा के लिए हैं निर्वैरता के लिए हैं हम दूसरे का भला कितना करते हैं वो अलग बात है लेकिन कम से कम निर्वैर तो रहे दूसरे के साथ वैर दूसरे की हानि तो ना करें ये तो बहुत आवश्यक है और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था दी है विधान किया है हमें केवल उधर उस चलना है और इस निर्भयता में रहते हुए ही अपनी और दूसरों की उन्नति होती है परमात्मा की तरफ से तो निर्भयता की सारी व्यवस्था की गई है इसलिए परमात्मा निर्वैर विधायक है इसी से जुड़ा एक और संबोधन है सुनीति वर्धक नीति नियम जिससे हम गति करते हैं जो हमें नेतृत्व प्रदान करता है जो हमें निर्देश देता है एक दिशा देता है वो नीति तो परमात्मा सुनीति का वर्धक है बढ़ाने वाला है ये जो पिछले दो संबोधन थे दारिद्र्य विनाशक इतने साधन दे दिए कि हम सुनीति पर चल सकते हैं निर्वैरता का विधान भी परमात्मा ने किया है यही सुनीति है इससे बढ़ के और क्या सुनीति होगी कि हम अपनी अपनी उन्नति करें और दूसरे को कोई बाधा न पहुंचाए इससे अच्छी और क्या व्यवस्था होगी कि सारे साधन उपलब्ध हैं कि हम दूसरे को बाधा पहुंचाए बिना अपना काम कर सकते हैं न्याय ही सुनीति है न्याय के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं कि दूसरा व्यक्ति अन्याय में ना चला जाए उसके लिए परमात्मा की व्यवस्थाएं हैं और कोई जाता है तो वहां दंड व्यवस्था भी है तो परमात्मा हमेशा सुनीति का वर्धक है उसका उपदेश देता है और उसकी व्यवस्थाएं भी सुनीति को बढ़ाने के लिए हैं ऐसे साधन उसने हमें दिए बुद्धि आदि कि हम सुनीति को बढ़ा सकते हैं और परमात्मा सदा उसको बढ़ाने के लिए कार्य करता है तो ये तीन संबोधन महर्षि ने एक साथ दिए हे दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक परमात्मा के लिए इस प्रकार का भाव मन में रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ